मेल वर्षन आपके दस्तखत हमारे तन पे इतने नरम कलम से किए वो दस्तखत ना होठ के ना उंगलियों के हमारे एहसास के थे आपके साथ का वो आंखें झपकती पलकें वो बातें नशीली धुन के हमें खुद से मिला रही हमको यूं चला रही हमें खुद से मिला रही हमको यूं चला रही फीमेल वर्षन स्पर्श आपके बातों का जो समीर सा हमें छूता इंतजार हमारे जीवन का पूरा कर दिया कहानियां लिखती हुई लहरों सी नजर आपकी नज़ाकत को समझे हमारे दिल की वो सांसें बहकती तन के वो आसें सुलगती मन के बारिश को बुला रही हमको यूं भिगा रही बारिश को बुला रही हमको यूं भिगा रही You lit my heart and burn my eyes, crunch in touch and crunch in touch. How and how we meet so much. Background ये कारवा दो पहियों का सब्र से चलता रहे ये कारवा दो पहियों का सब्र से चलता रहे मोर उनके तन हुए दो नैनों में जल हुए पिघल रहे वो आस में एक दूजे के रास में भूल भुलैया बाहों का टूट रहा ना सांसों का ये बंधन अंधेरे में चांदनी सा मचल रहा